सारे विचार किया आप किसी दुख को अपना दुख नहीं मानता कर्मास्तु हेतु सुख दुख वही किमार मनस्तर जगा जगत्ते देहस्त पुरुषोयम सुपर्ण बुद्धे तकस्मय न कर्म मूलम सबको को आत्मा का इससे किसी का संबंध नहीं अंतरिश्याम दुरंत पारण तमो कुंदाम भगवान कहते हैं कि इस तरह से वो अवधूत था देवतम एवं नष्टद्रवना का कदयो राम पर्यटन दुष्ट तिरस्कृतों की गाम गाथा नाम करो दुष्ट लोगों ने बड़ा तिरस्कार किया पर ये गाथा होगा ये इसका नाम है भिक्षु गीत भिक्षुक ने सन्यासी का ये गीत है सन्यासी का गाना है और सन्यासियों को इसे याद रखना चाहिए कोई सारे कष्ट दूर हो जाए इसको याद रखने से बोलिए श्री कृष्ण भगवान हे कृष्ण ममान कारो निरक्त उद्धव कहते हैं अब मेरे अज्ञानता तो पता ही नहीं कौन सा जैसे दीपक जलाओ अंधार पता अंधकार का कहां पता होगा यहां आगे जाओ केस में तो एक वशिष्ठ रुका है तो उसमें के हजारों वर्षों का अंधकार है कब से पर तत्काल जाकर के मोमबत्ती जगा दो अंधकार सा दूर हो जाता है ये अब दीपक तो अभी जलाया अभी पैदा हुआ है और अंधकार हजारों वर्ष का पर दीपक जलते ही अंधकार को निवृत्त कर देता है स्वल्पाप दीप कणिका बहुलन नाश है तमाम स्वल्पाप बोध कणिका है बहुलन नाश है जब हृदय में ज्ञान का उदय होता है तब नाधिकाल की अविद्या तत्काल नष्ट हो जाती वो तब कहते हैं महाराज ये मेरा अंधकार नष्ट हो गया आपने विज्ञान रूपी दीपक मेरे हृदय में जागृत कर दिया अब आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहां जाऊं हे योद्धा तुम मेरी आज्ञा से भद्रकाश में चले जाओ वहां मत पावोदक तीर्थे नाना देव मेरे चरणों का ध्रुवन मेरे वो जो तीर्थ है गंगा है उनके दर्शन से तुम निष्पाप होकर के वहां निवास करो बलकर वस्त्रों को धारण करो वन्य फलों का भोजन करो शीतोष्ण का चयन करो मैंने जो तुमको उपदेश किया इसका चिंतन करो बस भगवान ने आज्ञा दी भगवान की आज्ञा धारण करके उद्धव भगवान के चरणों को भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों को प्रणाम करके पारे और सिरों निधाय भगवान के चरणों में सिर रख करके और आंसुओं को तपताते हुए भगवान से विदा होकर के चले गए बोलिए श्री कृष्ण भगवान परीक्षित बोले महाराज जब उद्धव जी चले गए फिर द्वारका में क्या हुआ द्वारका में वही हुआ जो होना था और तो बड़े उत्पाद होने लगे द्वारका में भगवान ने कह जल्दी चलो यहां से प्रभास क्षेत्र ग्यारह और सब अपने अपने रथ में बैठ करके प्रभाषक क्षेत्र में पहुंचे भगवान ने मेरे ब्राह्मणों को भोजन करा गौ पृथ्वी और जो है सोनी चांदी का दान करा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और जो है कृष्ण वजह सुखता यादवास कथित तृप्ता नौकाओं के द्वारा समुद्र को पार करके प्रवास क्षेत्र में आए और भगवान ने जो कहा था वो सब कुछ किया ब्राह्मणों को उस भोजन कराया करा करके और फिर स्वयं भोजन किया और भोजन करके और सबने अपनी अपनी बोतल निकाल ली जय शंकर मदरा विशेषम युक्ता दैवेन भविष्य दिया ओ मदरा पान करके और उनकी बुद्धि दृष्ट हो गई क्या चित्ते भ्रांति जायते मद्यपानार्थ भ्रांत चित्ते पड़ी थी वो सबसे बुद्धि का नाशक होने से सबसे बुरी चीज मदरा यह है कि बुद्धि को सीधा बुद्धि पर ही चोट करती है बुद्धि को नष्ट करती है बस फिर क्या था वो आपस में एक बातचीत करने लगे कड़वा बोलने लगे थोड़ी और बात पड़ गई अपने अपने शस्त्र निकाल लिए फिर रथों अपने अपने रथों में और अपनी कोई हाथी पे कोई घोड़े पे कोई रथ में बैठ गए लड़ने लगे प्रद्युम्न तो और युद्ध प्रद्युम्न और भाई भाई प्रद्युम्न शाम अपूर्व और दो अनुरुद्ध और सात्विकी सब बैठ गए अबुद्ध मिनट और जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हुए तो वो देर का उदाहरण बुद्ध भाष थी वो बच्चे के समान हो गई वारी माना अपनी लोगे का समझता कृष्णम बलरामम से स्पर्धनम मत्वा जगन बलदारो और श्री कृष्ण जी उनको मना करने के गए तो उनको भी समझा दिया और यदि हमारी शक्ति है और तो भगवान ने कहीं बलदारो दादा पर लोग करो समाप्त बस बलदान जी ने वो अपना लोहे का डंडा परे को उठा लिया और तान जब मिल तेषाम स्पर्धा एक मिथो या क्रोध हो जाता आपस में जब कुल में जो क्रोध उत्पन्न हुआ उसने सारे कुल का अक्षय कर दिया जैसे अग्निर्वनम अग्नि जैसे वन में प्रकट होकर के वन को नष्ट कर दे एवं सर्वेश नष्टेश कृष्ण हो और जब सब आपस में लड़ कर मर गए भगवान ने समझा अब ये पृथ्वी का भार दूर हुआ ये अहंकारी लोग समाप्त जी समुद्र के किनारे बैठ गए अपना योगाभ्यास में और अपनी चिंतन करते हुए और अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ दिया बोलिए भगवान ने देखा दारू दादा तो गए तो अपने आप स्वयं एक पीपल के वृक्ष के सहारे चतुर्भुज धारण करके भगवान पीपल के वृक्ष से कमर लगा करके एक पैर अपने दूसरे पैर पर रख करके दक्षिणे पूर्व वाम पादम कृत्वा दक्षिण पूर्व पर बाया पैर रख करके भगवान ऐसे बैठे जरा नाम का व्याध वो अपने प्राण उसने मारा वहां से भगवान का पैर ऐसा लग रहा था जैसे दूर से जैसे किसी मृग का मुख हो मृग समझ के बाहर छोड़ दिया भगवान के पैर में आकर के लग गया पास में आकर देखा तो श्री कृष्ण है चरणों में लग गया महाराज मेरे अपराध को क्षम मैंने तो मृग समझा था भगवान बोले ये हमारी इच्छा से ये हुआ है उनको भी तो हमने ऐसे मारा था भाई वो बदला हो गया सर अब जाओ तुम स्वर्ग में आनंद रामायण बालिनम प्रति राम वचनम यद्यपि तुम दुराचारा निहितो गणी मया भगवान ने कहा है आनंद रामायण की कथा है भगवान ने कहा यद्यपि तुमको हमने अपराधी होने से मारा है तथापि भिल्ल रूपेण द्वापरांतेन्द्रेण तो भिल्ल रूप से तुम द्वापर के अंत में मेरे बाण मारोगे अपना बदला लोगे इसी अंतर समय में दारुक भगवान का जो साथी था वो जब देखा सब यादव लड़ भिड़ करके मर गए अब भगवान को देख रहा था भगवान कहां है श्री कृष्ण कहां तो भगवान जो तुलसी की माला पहने हुए थे ना तो उसकी गंध उसे आई बहुत दूर से और झट उधर से गंध सुनता सुनता दारुक वहां आया तुलसी गंध घात तो घातवा भगवान के स्वरूप में आया और आ करके भगवान को देखा आंखों में आंसू भर रहे थे उसको रथ से उतर करके भगवान के चरणों में लग गया भगवान बोले दारू आओ तुम जाओ वहां सूचना दे दो जाकर द्वारका में और द्वार के देखते देखते ही भगवान का वो रथ था घोड़ों के सह ध्वजा के सह और पश्चिता खम हो चुका था आकाश में उड़ गया दारू जो है वो द्वारका में पहुंचा और जाकर के ये सारी समाचार को उनको दिया सर्वे समसम परिग्रह न पितरों गृहत्वा अर्जुन ने लक्ष्यता संस्था भगवान ने कह दिया कि और जो जो बाकी बच्चे हैं लोग वहां स्त्री आदि बच्चे अर्जुन के साथ जाओ फिर इंद्रप्रस्थ को चले जाए और पंतु ज्ञान निष्ठा संघ दारू शिकारी तू तो हमारे साथ रहा है हमारा सारथी है विचार के द्वारा ये सारे संसार को मायक समझ करके मेरा चिंतन करते हुए विचरण कर दारुक ने उन्हें सब किया अब भगवान जब अपने लोग को जाने वाले थे उस पूरे भगवान का गमन देखने के लिए सब देवता हो कि किस तरह से भगवान वैकुंठ हो जाते हैं किधर होते जाते हैं कहां कहां होते जाते हैं सब देखेंगे तो सही हम तो ब्रह्मा पार्वती के जय जी के जय शंकर इंद्रादिक देवता शंकरादिक महर्षि प्रजापति मरीची पितृ गंधर्व विद्याधर चारण यक्ष रक्ष किन्नर अप्सराएं गरुड़ गरुड़ लोक में रहने वाले पक्षी ये सब आकाश में आकर उपस्थित हो गए भगवान की लीलाओं का गान करने लगे विमान पंक्ति भी आकाश में व्याप्तम आकाश में विमान की पंक्तियों से आकाश भरा हुआ था पुष्पों की वर्षा हो रही थी श्री कृष्ण ब्रह्म निरादिश निरीक्ष भगवान ने देखा कि इंद्रा ब्रह्मादिक देवता ही सब मेरा दर्शन कर रहे हैं अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए लोकाभिरामाम स्वतन और परम सुंदर जो अपना शरीर है अगर द्वैव कोई योग धारण हुआ उन्नीस से उसे नहीं और शरीर के सहित ही क्या हुआ एक साथ बिजली जैसी चमकी और फिर ये पता नहीं चला कि किधर होकर गए कहां गए क्या हुआ एकदम प्रकाश हुआ और फिर एकदम लुप्त हो गए जैसे मेघों में एक बिजली चमकती है और पिल्ली है एक साथ एकदम प्रकाश हुआ देवताओं की आंख मिच गई जब आंख खोली तो न भगवान इधर दिखाई देंगे इधर दिखाई देंगे इधर दिखाई दें कहां गए कैसे गए कहां गए कुछ <coughs> देवताओं की धुंधली बचने लगी आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई जे तत्व ब्रह्मादय स्वधानी विषंतम श्री कृष्ण अदृष्टा विस्मिता हुआ उनको भी आश्चर्य हो गए उन्होंने किसी ने नहीं देख पाया कि घर गए थे जैसे विद्युल्लताया गतिर मनुष्य न लक्ष्य हाँ? बिजली की गति को जैसे मनुष्य नहीं देख पाता है कहां चमकी और कहां लीन हो गई ऐसे एक जब वहां द्वारका में जब ये बातें सुनाई दारू से सुनकर के सब अपनी मां माता पीटने लगे विष्णु का नाम सुनकर के मनुष्य जो है कृष्ण योग से आतर होकर के वहां आए देवकी और रोहिणी वसुदेव देते रामकृष्ण पुत्र वोशन का जब देखा उन्होंने बलदाव जी ने श्री कृष्ण है तो उन्होंने अपने प्राणों में छोड़ दिया स्त्रियां जितनी थी वो अपने अपने पत्नियों के शरीर को लेकर के चिता पर चढ़ गई बलदाव जी की जो पत्नी थी वो राम बलदाव जी के शरीर को लेकर के चिता बनाता कि बस वो बसदेव जी की पत्नियां थी बसदेव के शरीर को लेकर के चढ़ गई ऐसे सब और रुक्मिणी राजा अग्निम आभूषण अब भगवान का तो कोई शरीर था ही नहीं तथा कृष्ण पत्नी और आज्ञा अग्नि प्राक्षर भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर दी ऐसे अब तत्व हरणा त्यक्तम समुद्र ने भगवान के मंदिर को छोड़कर के सारी द्वारका <coughs> डुबा दी अर्जुन हतशेष जो बापू बचे थे स्त्री बालकर तो उनको उन्होंने <coughs> वहां इंद्रप्रस्थ में पहुंचा बोलिए श्री कृष्ण ये जो वंशधर हिराजन का पिता रहा अर्जुनाथ क्षयम कृत्ता स्वाम धर्म कृत्ता सर्वे स्वर्गम धर्मो बड़ा तुमको राज दे करके और तुम्हारे पितामह युधिष्ठिराज सब हिमालय में चले गए ये भगवान के चरित्र कीर्तन को तो जो सुनता है संपूर्ण पाप से मुक्त हो तो जाता है

पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दलिप्रात् कृष्णाक्षरम् किमपि तत्त्वम् जाने नमो नवधनश्यामतामसाम् कवीने कमलाकामसौदामकाम् कवीने श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे करुणासुराचारश्रीरामचन्द्रा तस्त वंशो बहूवो सुखदेव जी बोले रावण जरासंध के पिता जो ग्रह रक्ष हैं उनके वंश में उत्पन्न होने वाले राजा हैं सुखदेव सुखदेव से लेकर के इंद्र नवमस्तम मुनि परायण है और शासन रूपम जो कहते हैं उनका नाम अंजय भी है उनका मंत्री जिसका नाम था सुमक अपने स्वामी को मार करके स्वस्वामी पुरंजयम भक्ता सचितम प्रद्योत संगम राजान लक्ष्य प्रद्योत संज्ञा जिसकी है ऐसा राजा है तो इसका पुत्र होगा पालक उसका विशाखारूप उसका राजक तो नंदी वर्धन ऐसे ये प्रद्योत सूर्य के नाम प्रद्योत सूर्य का प्रद्योत हिंदू संग्रह में पांच अलग अलग होंगे एक सौ अड़तीस वर्ष तक राज्य करेंगे और चतुर्भावी शिष्मा उसका पुत्र होगा कातवर्ण क्षेत्र धर्म उसका फल क्षेत्र विदिशा फिर अजात शत्रु उसके बाद दर्भ फिर अजय फिर नंदीवर्धन उसका कुछ होगा महानंदी एक दस निरपा ये दस राजा लोग तीन सौ साठ वर्ष तक पृथ्वी को शासन करेंगे और महानंद का पुत्र सुद्री सुद्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ नंद नामा वो ततः शूद्र प्राय अधार्मिका हो वो नंद जो है एक सप्ताह प्रतिदिन पालेश परशुराम के समान बड़ा क्रोधी गया तब से समाज क्रम था अष्टम सुखा शतवर्षाणि नहीं की तथा एकता नवनंदा इन नवनंदों को कोई चाणक्य नाम का ब्राह्मण इनका उन्मूलन कर देगा फिर तो तटस्थे शाम भावे मौर्य संज्ञा मौर्य नेता मोक्षण की स चाणक्य दुजो मौर्येशु प्रथम चंद्रगुप्ता मौर्य ने चंद्रगुप्त को जो है राज्य राज्य विशेष की चंद्रगुप्त का पुत्र होगा ब्राह्मसार उसके अशोकवर्धन उसका पुत्र होगा सुयसा उसका संगत तथा सार सारसू सोम शर्मा शतधर्मा उसका बृहद्रथ तत्प्रथमो दशरथ से पराशरान युद्ध बोलते दशमौरिया ये लोग आज करेंगे उसके बाद में सारसूत दस श्रम शर्मा फिर उसका पुत्र होगा सदधन्ना फिर उसका ऐसे <coughs> ये एक सौ सैंतीस वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे रजरथ का सेनापति मित्र अपने स्वामी को मार करके राज्य प्रयोग उसका पुत्र होगा अग्निमित्र उसका सुदुष्ट उसका पुत्र होगा वसुमित्र उसका भद्रक उसका फिलिंद घोष तस्य विभिन्मित्र कस्य भागवत तस्य देवभूति एक दस सुंदा ऐसे एक से बारह वर्ष तक जो है किसी का शासन है फिर पृथ्वी स्वल्प गुण वाली हो जाएगी तथो देवभूति नाम का अनुसंगम है देवभूति नाम के शुभ को मार करके उसका प्रधानमंत्री जिसका नाम नाम वसुदेव होगा कर्ण वो राज्य करेगा उसका पुत्र होगा भूमित तो उसका नारायण कश्यप शर्मा एक जपा कामना ये तीन सौ पैंतालीस वर्ष तक शासन करेंगे ऐसे तथा कर्णों शशरभान हत्ता तक शिव को आंध्र जाति को रविना इसका नाम होगा रवि सूर्या संचित नाम रोक्षति उसका भाई होगा कृष्ण नाम ध्रुव प्रसिद्ध भविष्य उसका पुत्र होगा श्रीकांत कर उसका होगा पौर्णमास फिर उसका लंबोदर ये शिविर तस्वीर का पुत्र होगा विवेक स्वाति तस्वीर अटमान तस्या कर्म कर्मा तस्या आरेया तस् तलक तस् पुरी मीरू तस् व्यवस्था पुत्र चतुर तस् बहुसंज्ञा संगता अष्टपुत्र तस् पूर्णिमा तस् वेद वेदशिवा तस् शिवगंगा तस् यज्ञश्री तस् विजय तस् चंद्र विद्या तस् गोम अनुमति वेते पुंसक राजा ये चार से छप्पन वर्ष तक राज्य